और उनकी दुआ इसके सिवा कुछ न थी ए हमारे रब हमारे गुनाहों को बख्श दीजिए और हमारे काम में हमारी ज्यादती को भी और आप हमें साबित कदम रखें और काफिरों के मुकाबले में हमारी मदद फरमाएं